गीता तत्व चिंतन अवतार मीमांसा 116 नॉलेज और विजम तो धर्म वह है जो धारण करता है व्यक्ति का परिवार का समाज का राष्ट्र का विश्व का वे समस्त सिद्धांत धर्म के अंतर्गत आते हैं जो विश्व के संतुलन को बनाए रखते हैं विश्व का संतुलन मनुष्य के संतुलन पर निर्भर करता है मनुष्य को छोड़कर विश्व के सभी प्राणी अपनी सहज प्रवृत्ति द्वारा संचालित होते हैं यह सहज प्रवृत्ति प्रकृति का ही अविच्छेद्य अंग है अतः उसके द्वारा विश्व के संतुलन को कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचती वह तो मनुष्य ही है जो सहज प्रवृत्ति को अपनी बुद्धि द्वारा शासित करने की तथा प्रकृति को संचालित करने वाले छिपे हुए सिद्धांतों को प्रकट करने की चेष्टा करता है यह मनुष्य की बुद्धि का कमाल है जो एक ओर उसमें निहित अनंत सामर्थ्य को प्रकट करता है तो दूसरी ओर विश्व के संहार का भी खतरा पैदा कर देता है धर्म वह तंतु है जो बिखरने से बचाता है प्रसिद्ध नास्तिक चिंतक बर्टैन रसेल की भाषा का यदि हम उपयोग करें तो विडजम कहकर पुकारा जा सकता है वे अपने the impact of science on society नामक लेख में कहते हैं We are in the middle of a race between human skill as to means and human folly as to ends. Given sufficient folly as to ends, every increase in the skill required to achieve them is to the bad. The human race has survived hitherto owing to ignorance and incompetence but given knowledge and competence combined with folly, there can be no certainty of survival, knowledge in power, but it is power of evil just as much as for good. It follows that unless man increases in wisdom as much as in knowledge, increase of knowledge will be increase of sorrow. अर्थात एक ओर साधनों के संबंध में मानवीय कुशलता और दूसरी ओर लक्ष्यों के संबंध में मानवीय मूर्खता की जो दौड़ चल रही है हम उसके बीच में हैं यदि लक्ष्यों के संबंध में पर्याप्त मूर्खता बनी रहे तो उनको हासिल करने के कौशल में हर बुद्धि अशुभकारी ही होगी यह मानव जाति अब तक अज्ञानता और अक्षमता के कारण बची रही है पर यदि मूर्खता के साथ ज्ञान और क्षमता का योग हो जाए तब तो उसके बचने की कोई निश्चितता नहीं ज्ञान शक्ति तो है पर वह अशुभ के लिए भी उतनी ही जबरदस्त शक्ति है जितनी कि शुभ के लिए अतः निष्कर्ष यह है कि जब तक मनुष्य विवेक विष्टम के क्षेत्र में भी उतना ही आगे नहीं बढ़ते जितना कि ज्ञान नॉलेज के क्षेत्र में तब तक ज्ञान का बढ़ना दुख का ही बढ़ना होगा रसेल कितनी सही बात कहते हैं वे ज्ञान और विवेक में अंतर करते हैं विज्ञान की प्रगति की बदौलत मनुष्य का ज्ञान तो बढ़ा है पर उसका विवेक उस अनुपात में नहीं बढ़ा है इस विवेक को रसेल ने विजडम कहकर पुकारा है जब उनसे पूछा गया कि वे विजडम से क्या समझते हैं तब उन्होंने उस शब्द की व्याख्या करते हुए कहा the essence of wisdom is emancipation as far as possible from the tyranny of the here and the now अर्थात यहाँ और अब यानी देश और काल के अत्याचार से यथासंभव छुटकारा पा लेने में विजडम का सार है यह पूर्णतः अध्यात्म की भाषा है भले ही रसेल जलवादी थे नास्तिक थे तथापि मानवतावादी होने के कारण उनकी दृष्टि में वही गहराई है जो एक अध्यात्मवादी की दृष्टि में होनी चाहिए वे विजडम की वकालत करते हैं हमने इसी विजडम को धर्म कहकर पुकारा है इस मानव समाज को विखंडित होने से बचाता है इसके अभाव में विश्व उच्छृंखल अहमवादियों का रण क्षेत्र बन जाएगा और मानवता उसके नीचे पीस कर कराहती रहेगी